وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया उसके पीछे दोजख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा वो उसको घूट घूट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा और उसके बाद सख्त अजाब होगा مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा यही तो परले सिरे की गुमराही है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें हमारे हक में बराबर है कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था हां मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया तो आज मुझे मलामत न करो अपने आप ही को मलामत करो न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फीहा सलाम अलम तर कैफ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نزلت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा उनमें रहेंगे वहां वो हर मुलाकात पर एक दूसरे को सलाम कहेंगे क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलेम तय्यबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है वो ऐसी है जैसे पाकिजा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हों वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौके पर फल लाता हो और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें और नापाक बात यानी गलत अकीदे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है कि वो जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए उसको जरा भी करार सबात नहीं अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा और अल्लाह बे इंसाफों को गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है